और याद कीजिए जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर उठाया गोया वो एक साहेबान हो और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरने वाला है हमने कहा जो हमने तुम्हें तौरात अता फरमाई है उसे मजबूती से पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच जाओ